और जिन्होंने हमारी आयतें झुटलाई बहरे और गूंगे हैं अंधेरों में अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करे और जिसे चाहे सीधे रस्ते डाल दे